क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा